एकमात्रण द्विमात्रण त्रिमात्रण इत्यादि विचार आ चुका है ओम ये आत्मारम युंजीत ओम ऐसा जानते हुए अपनी ही आत्मा को लक्ष्मीभूत शुद्ध स्वरूप में लीन कर दो ओम रूपये साधन के द्वारा इति है ना बीच में इति की बहुत बड़ी महिमा है जैसे बिहार में अति की महिमा है और शास्त्र में इति की महिमा है ओम ब्रह्म इति और ओम इति ब्रह्म में बहुत फर्क है सर्वम ब्रह्म इति उपाधित सर्वम इति ब्रह्म उपाधित मनो ब्रह्मेत्युपाधित अलग जैसे विचार ब्रह्म सूत्र बहुत विस्तार रूप से आने वाला है बीच में रखने से क्या होता है बाद में रखने से क्या होता है यहाँ पर ओम इति कह रहे हैं ओम आत्मान इंजीता सीधा नहीं कहा ओम इतने भी नहीं कह रहे हैं ओम इति कर, कर छोड़ क्योंकि यहाँ पर कारण तो है साधन तो है वो लेकिन वह साध्य भी है समस्या तो ये विवेक के नहीं कह सकते तो वह साधन भी है और वही साध्य का स्वरूप भी है अभिधेय होता जो जगत है द्वैत है उससे अभिन्न त्रिमात्र दृष्टिया ओम है और उसकी त्रिमात्र दृष्टिया वो अभिन्न ब्रह्म से इसलिए वह साधन रूप भी है साध्य रूप भी है अतव बीच में इति कहना पड़ता है और जब केवल साधन है साध्य रूप नहीं है बारे में बोलेगा मनो इति उपाधित प्रतीक केवल है यह अंतर है संपद उपासना प्रतीक उपासना अंग्र उपासना अंग फर्क पहले भी एक बार बताया और आगे और आएगा बार बार उदाहरण करेंगे ओम इति ब्रह्म यहाँ साधन करें ओम इति ब्रह्म ओम इति आत्मान साधन और साध्य उभय रूपा हो साधन भी वही और उसी से साध्य का भी अनुभूति न हो जाएगा ओंकार एव इदम सर्वम ओंकार क्या है इदम सर्व इत्यादि श्रुति इत्यादि अनेकों श्रुतिया इसमें प्रमाण है रजवादी इव सर्पादि विकल्प से आस्पदो जिस प्रकार रज्वादि ही क्या हुए थे सर्पादि विकल्प से आस्पदो इव सर्पादि विकल्प का आश्रय कारण स्वरूप सब कुछ क्या है रज्जु है जैसे ठीक उसी प्रकार से अद्वय आत्मा परमार्थ सन अद्वय जो आत्मा है वही परमार्थ होते हुए प्राणादि विकल्प स्यास्पदो यथा प्राणादि सकल प्रकार के विकल्पों का कारण भी है स्वरूप भी है आश्रय भी है अधिष्ठान भी है सब कुछ तथा सर्वोपि वाक प्रपंच ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण जो वाक प्रपंच है शब्द जाल तानाध्यात्म विकल्प विषय ओंकार प्रपंच क्या है प्राणाध्यात्म विकल्प विषय प्राणादि विषय को शब्द बोल रहा है इसलिए प्राणादि अभिधेय से अभिन्न कौन है शब्द वाक प्रपंच प्राण इत्यादि शब्द और उससे अभिन्न कौन है ओंकार प्राणाध्यात्म विकल्प विषय वाक प्रपंच सर्वोपी प्राणादि जो विषय है उससे अभिन्न कौन होगा प्राण आदि जो वाक प्रपंच सबस्त वाक शब्द प्रपंच और वो शब्द प्रपंच क्या है ओंकार यही तो, गीता जी में भगवान ने कहा था ओंकार क्या हूं मैं अक्षरों में मैं ओंकार हूँ मैंने जितने भी पद वाक्य स्वरूप है शब्द जाल उन सभी का स्वरूप क्या है ओम है और वर्णों में उस ओम में भी क्या है आ हूं अकारो वही सर्वावाक ये समझ शब्द जाल को आ मात्रा मात्र में लीन हो जाता है शेष तो आनंद स्वरूप ही इसलिए कहते हैं यहाँ पर प्राणाध्यात्मिक कल विषय सर्वोपि प्रपंच ओंकार तथा सब प्राणादि विकल्प जो द्वैध प्रपंच है वो आत्मस्वरूप ही होता है दृष्टान क्या दिया जैसे सरपारी जो विकल्प है वो रज्जु स्वरूप ही होते हैं सर्वपाली जो विकल्प हो रहा है वह रज्जु स्वरूप से अभिन्न है दिखाई मात्र दे रहा है वास्तव में नहीं दिखाई देते सगल व्यवहार भी हो रहा है भय भी हो रहा है पसना भी आ रहा है भागने की बात हो रही है मारने की सोची जा रही है सकल व्यवहार हो रहा है और दिखाई भी दे रहा है आप फिर भी वो सत्य उसी प्रकार से सत्य क्या था वहां रज्जु मात्र उसी द्वैत प्रपंच प्राणादि विकल्प जितना भी है यह भी उस आत्मा में पर आत्मा में परिकल्पित होने से आत्मा में परमार्थ ही वास्तविक है और उसमें सारा विकल्प समझो ठीक उसी प्रकार शब्द और अभिदेवता विषय में समझिए विषय सारा का सरकार आरोपित है शब्द में ही आरोपित है कहने के लिए आप कह सकते हो मेरे को इसका नाम मालूम नहीं मैं इसका व्यवहार कर रहा हूँ आप कह देंगे आज पूजा जाए कई ऐसे उसमें संसार में जिसका नाम आप नहीं जानते तो व्यवहार तो कर रहे हैं फिर कैसे हुआ नाम से अभिन्न विषय का हुआ विषय तो मैं जान रहा हूँ वस्तु को जान रहा हूँ लेकिन वस्तु के नाम नहीं जानता हूँ नाम का वस्तु के साथ अभेद का हुआ है ना तर्क दे सकता है आप तो उसके जवाब क्या है कहते नहीं आप वस्तु के साथ व्यवहार कर रहे हैं ना आप उस वस्तु का नाम भले ही नहीं जानते व्यवहार तो करेंगे नहीं हम आपसे पूछेंगे किससे व्यवहार कर रहे हो जवाब क्या दोगे आप कुछ तो बोलोगे आप अपने एक नामकरण कर दोगे चलो टिट्टू से कर रहा होगा बिट्टू से कर रहा होगा अरे कुछ तो बोलोगे आगे क्या नहीं नाम आगे कि नहीं आपके मुंह से फिर वो जो कह रहा है मैं सकल व्यवहार कर रहा हूँ वस्तु को जानता हूँ वस्तु के साथ व्यवहार कर रहा हूँ लेकिन वस्तु का नाम नहीं जानता तो उसे बस उल्टा ये प्रश्न डाल देना तुम किससे व्यवहार कर रहे हो बताओ मेरे को किन वस्तु को जान रहा है व्यवहार भी कर रहा है अब उसी के मुख से जवाब निकल जाएगा किससे व्यवहार कर रहा है और नाम बोलेगा ही अमुख से कर रहा चाहे वो अपना नामकरण करें या सुप्रसिद्ध नाम बताएं जो भी है लेकिन बिना उस वस्तु के नामकरण का उस नामी के साथ व्यवहार नहीं हो सकता भले आप नाम को अब प्रधानता दिए हैं शुरू में और नाम ही के साथ व्यवहार कर ले रहे हैं लेकिन बाद में आपको नाम तो करना ही पड़ता है नाम का प्रयोग किए बिना व्यवहार का कथन ही नहीं कोई भी चीज होता है संसार में उसको शब्दों से ही निरूपण किया जाता है हाँ, इसलिए तो बड़ा आश्चर्य होता है अंदर का मशीन कितना विलक्षण भगवान ने बनाया हुआ है जिससे आप देख रहे हो वो बोल नहीं सकता जो बोलता है वह देख नहीं सकता और कहता क्या है मैंने देखा है कौन बोल रहा है ये आंख बोलेगा क्या आंख तो बोलता नहीं देखा किसने जुवा ने जुवा बोल रही है वहां की इंद्रिय बोल रहा है कि मैंने देखा जिसको देखने की योग्यता ही नहीं है वो कह रहा है कि मैंने देखा और जो सारी दुनिया को देख रहा है उसको बोलने की हिम्मत नहीं कि मैंने देखा वो तो बोल नहीं सकता ऐसा संयंत्र फिट कर दिया भीतर में एक कंप्यूटर जो सब बातों को जोड़ लेता है मन को उसने वहां पर का विषय लिया उसको जवान से बुलवा दिया कान से सुना उसको यहां से बुलवा दिया लेकिन एक विलक्षणता है जब तक वाणी से मन तत्व के बारे में बोल नहीं सकता है कोई मानेगा नहीं आप उस चीज को जानते हैं ये आप कहेंगे मैं जानता हूँ तो आप कैसे जानते हम बताना पड़ेगा ना हम मौनी बाबा बन जाइए पता क्या चलेगा आप क्या जानते क्या नहीं जानते बहुत सारे अंगूठे चाप महात्मा जी इसलिए मौनी बनते हैं अच्छा है और दुनिया भर पता नहीं पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है हम्म, हम्म, हम्म, करते रहो हो गया काम और सोचे महान महात्मा तो बड़ा ज्ञानी है जी बड़ा सिद्ध महापुरुष है हजार सुना हुआ तो ये संसार मिथ्या है तो हजार बहुत ज्यादा परेशान करें तो बस कहीं मिट्टी पे लिख देंगे संसार मिथ्या से मैं नहीं बोलता काम खत्म क्या करना है फालतू बोल कर इसलिए यहाँ भाष्यकार गाना है देखो प्राणा यात्री का विषय ओंकार कैसा होगा साबित करेंगे ओम पूर्ण आत्मस्वरूपम मेवा और वह जो ओंकार है वह आत्मस्वरूप ही है वो जो अभिधान है ओम वह अभिधेय से अभिन्न वाचक जो ओम है वह वाच्य ब्रह्म से अभिन्न है सच आत्मस्वरूप में तद अभिधायक क्योंकि यह ओंकार जो है उस ब्रह्म का अभिधायक है वाचक है ओंकार विकार शब्द अभिधेय सर्व प्राणादि ही आत्मविकल्प हो अभिधान व्यतिरेकिण राष्ट्र ओंकार का ही विकार है समस्त शब्द और समस्त अभिधेय होता वस्तु अभिधान और अभिधेय दोनों के दोनों ओंकार का ही विकार है इसलिए कारणों से अभिन्न होता है कार्य कार्यात्मक जो शब्द है अभिधान और तक जो अभिधेय है इन दोनों का कारण कौन है ओम है इसीलिए ओम से दोनों अभिन्न और ऐसा जो दो होता है समानाधिकरण भूता कार्य वस्तु वे परस्पर भी अभिन्न ही होते हैं इसको बताएंगे तद अभिन्न स्थिति न्याय लगा करके समझाएंगे उससे पहले विचार कर रहे हैं ओंकार विकार है शब्द अभिधेय सर्वा ओंकार का विकार ही है क्या क्या शब्द मने अभिधान अभिधेय और अभिधेय ये दोनों के दोनों सर्वा यही सब कुछ अभिधान अभिधेय से भिन्न कुछ भी नहीं है इस जगत में नाम और रूप नाम अभिधान है रूप अभिधेय नाम रूप आपका की तो जगत है इस कुछ भी जगत नहीं है प्राणाधि कल्प इसे जो प्राण आदि पंचदश कलाओं का वर्णन जो हुआ था पहले वो सब क्या है आत्मा का ही विकल्प है विकल्प है का मतलब क्या विकल्प किसको कहते हैं वस्तु शून्य और शब्द उपाधि विकल्प वास्तविक वस्तु का स्वरूप कुछ भी नहीं है तो शब्द से आप सुन रहे और समझ रहे हैं उसी का नाम विकल्प है इसी तरह आत्मा का ये प्राणादि क्या है विकल्प का मतलब क्या आत्मा ही वास्तविक है और उसमें नाम रूपात जगत शब्द जाल मात्र ही है वास्तविक सत्ता से युक्त पारमार्थ नित्य कोई वस्तु है ही नहीं जो कुछ वस्तु आप देख रहे हैं यह सब वास्तव में प्रातिभाषिक है ये सिद्ध कर रहे हैं यहाँ प्राणादि जो है ना आत्मविकल्प है मैंने वास्तविक वस्तु नहीं योग सूत्र है वो शब्द ज्ञान अनुपात शून्य विकल्प तो, तो वर्णन करते हैं लेकिन योग सूत्र में सूत्र है तो पंचवृत्तियों में जहाँ वर्णन किया वहाँ पर है प्रमाण का सबसे पहला नाम लिया प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत पंचवृत्त उसमें विकल्प का लक्षण योग सूत्रकार ने किया उसको यहाँ पर बताएंगे दूसरे शब्दावली में श्लोक सुना देंगे आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि ऐसा कहें कहा हो सकता है अरे तो होता है शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं आप भी शब्दार्थ समझ रहे हैं लेकिन वस्तु तो होता नहीं है वस्तु तो होता नहीं है इसके लिए दृष्टान देंगे ना शश श्रृंग कृत धनुर्धर है खपुष्प कृत शेखर संध्या पुत्रो देवदत्तो मृग दृष्टान देसी स्नाता वंध्या पुत्र देवदत्तो या शिशु का धनुष बना लिया शब्द तो सुन रहे हो कि नहीं सुनाई दे रहा है और इसका अर्थ तो समझ में आ रहा है खरगोश का सिंह है और सिंह से धनुष बनाया और तो समझ में आ गया कुछ खपुष्प कृत शेखर आकाश में पुष्प होते हैं और उन पुष्पों से उसने शेखर बना लिया अपने बालों को अलंकृत कर लिया मृग तृष्णा हिरण की जो है प्यास को बुझाने वाली जो जल है उस जल में उसने स्नान किया मृग तृष्णाम भसी स्नात कौन बंधिया का पुत्र बंधिया का बेटा नाम क्या है उसका देवदत्त था क्या कर रहा है वो देखो उधर जा रहा है सामने याती जा रहा है शब्द भी सुना अर्थ भी समझ में आ रहा है कहीं वस्तु क्यों नहीं है अरे घटो अस्थि शब्द सुना कि नहीं आपने अर्थ भी आपने जाना और शब्दार ज्ञान के पश्चात वस्तु मिलता कि नहीं मिलता घट इसको भी ढूंढो कहा मिलेगा ये देवदत्त ऐसा देवदत्त स्पेशल जो है ढूंढ लो नहीं मिलता है जैसा वो है वास्तव में ये भी वैसा ही घटो नास्ती में अस्थि नास्ती जो व्यवहार करोगे यहाँ भी वास्तव में नाम रूप से भिन्न जो जगत है ही नहीं लेकिन हम वास्तविक मान लेते हैं घट को बाह्य है कर व्यवहार करते व्यावहारिक सत्ता से संपन्न है और तार संध्या तो व्यावहारिक सत्ता से भी युक्त नहीं है प्रातदर्शिक सत्ता से भी संपन्न नहीं हो सकता केवल एक मनो कल्पना मात्र ही कर सकते हैं आरोप कर सकते वास्तविक में कुछ भी नहीं हो सकता इसलिए कहते हैं ये जो प्राणादि है ना वो वास्तव में वंध्या पुत्र के समान ही आत्मनिष्ठ विकल्प मात्र ही है अभिधान व्यतिरेक नास्तिक इसे नाम जो वाचक है अभिधान है उससे भिन्न ये प्राणादि अभिधेय रूपा वस्तु कुछ भी नहीं है तो इसमें क्या प्रमाण है आपका कथन में वाचारमण विकार नामधेय मृतिका सत्यम तदस्य वाचा तुम क्या नाम फिर धाम भी सर्वम सितम इत्यादि अनेको प्रमाण सर्वम इदम नामानी इत्यादि श्रुति अतः पहला श्रुति वाचा रमणम ही विकार नाम देयम कार्य सर्वस्य समस्त कार्य मिथ्या है इसमें सरल उपाय है समझने का मिट्टी ही है और मिट्टी का विभिन्न आकार आपने केवल प्रदान किया प्रदान करने के बाद उसके साथ विभिन्न नामों से व्यवहार करते हैं नामों से व्यवहार ही करते नहीं बल्कि उससे विलक्षण क्रियाओं का भी निष्पादन कर लेते हैं घड़े से अलग व्यवहार होता है सकोरा से अलग होता है नहीं घड़े से जिस प्रकार की क्रियान्वयन करते हो उसी प्रकार का क्रियान्वयन सकोरे से नहीं हो सकता ऐसे आप पांच लीटर पानी भी ले आओगे लेकिन सकोरा से थोड़ा से तो पानी आएगा कुल्लट से उससे ज्यादा पानी आएगा भैया इस प्रकार का आप जो है तो सब मिट्टी के शब्द में नाम संज्ञा में भेद कर दिया जब आप संज्ञा से विशिष्ट संज्ञाओं से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं तब भी वह मिट्टी है और विशिष्ट क्रियाओं का संपादन नयन आनयन आदि कर रहे उस समय भी, भी वो मिट्टी है परिमाण में जो आनंद क्रिया से युक्त परिमाण आदियों में अंतर होते वक्त भी वो मिट्टी है सदाई मिट्टी है लेकिन केवल नाम क्रिया व्यवहार फर्क पड़ रहा है क्यों हुआ क्या कारण है आपकी जो है स्मृतिका के में एक विशिष्ट अवयवित्व की परिकल्पना ही कारण मृत कणों में आपने क्या किया मृत काम थे धूल जाओ उसको इकट्ठा करा मिट्टी को पानी डाले उसको पिंड बनाया तो अवयवों में अवयवित्व की परिकल्पना की कि नहीं किया और और अवयव फिर वापस में अंत में अवयव में वापस पहुंच जाएंगे भी आज सब के सब नाश कर दो चूर्ण मराओ वापस वैसे कर वैसे हुआ कि नहीं हुआ इसलिए वो सदा ही मिट्टी ही रहेगा शुरू में था अंत में रहेगा और बीच में विलक्षण व्यवहार जो हो रहे हैं इसलिए तारस व्यवहार को हम सत्य नहीं मान सकते जैसे वाणी का विलास मात्र वाचारंभम कर वाणी का विलास मात्र ही है ये जितना भी विकार और विकार का नाम मैंने नाम और रूप आप तक तो जो जगत है वाणी का विलास जो कुछ भी करोगे शब्द से तो बोलोगे आप कहो मैं घड़ा लाया ये तो कहोगे दूसरा जो देख रहे हो भी घड़ा तो ले गया जैसे और कुछ नहीं एक भ्रांति से ये आ रहा है कि हमारा कर्तृत्व भोक्तृत्व हम लोगों ने मान लिए है ना यही समस्या हो गया इसलिए अकारो वही सर्वावाक अकार का मतलब क्या करोती थी कारा न करोती थी अकार करोती थी कारा मैंने कर्तृत्व भोक्तृत्व न करोती और न कर्तृत्व न भोक्तृत्व मिलते अकार कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित होने का नाम अकार होता है और इसको कौन जानता है और अकार इकार उकार मकार समझते रहते हैं और अकार हो वही सरवा वाक कह लिया ये जो वाणी भी है जो हम प्रयोग कर रहे हैं ये भी कर्तृत्व से विशिष्ट नहीं है वास्तव वाद व्यवहार भी कर्तृत्व भी विशिष्ट नहीं है और उसको कहा जो राम ने ओम में ओम का पहला मात्र क्या है खजाकार है कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित ही प्रथम मात्रा है उस ब्रह्मानुभूति का पहला सीढ़ी तक कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित होना चाहिए उसके बिना नहीं जब कर्तृत्व भोक्त से रहित हो जाओ तो क्या होगा वो मात्रा है ये माया जाल फैलेगा वो है माया उस आ को ढकने के कारण से उसका कर्तृत्व भोक्त जैसे माया को पार कर जाओगे तो मैं रह जाता लौ क्या है मोक्ष इसलिए ओम में अवम तीन मात्रा वर्णन कहते देखो वाचारमणम विकारो नाम दे इसलिए जितना भी विकार है और जितना भी नाम धेय है ये सब क्या है वाणी का एक आरंभ मात्र ही है विलास मात्र ही है और श्रुति प्रमाण देते हैं तद अशीदम वाचा तंत्या नाम भी सर्वम सिद्धम वास्तव में हम अपने ही वाणी और नाम के द्वारा इन विषयों को बांध के रखे हैं बंधने का तो ना विषय भी उपसर्ग का ई मात्र कारण से दंत सकार को मूर्धन्य हो गया सया बंधनम विशेषण बंधन का जो कारण है उसी का नाम विषय घटपटा दी दंत सकार को मूर्धन्य हो गया है ना आदेश प्रत्यय तो कहने की देखो सितम विश्वितम हो जाएगा विपर जोड़ दोगे तो हम स्वयं सबको बांध रखे हैं अपने साथ कोई हमें नहीं बांधा है हमें कैसे बांध लिया सबको अपने साथ कहते वाचा तंत्या नाम वीर ग्राम धागे थे इधर उधर बिखरे पड़े और उन धागों को आपने क्या कर दिया मिला करके रस्सी बना लिया रस्सी से क्या कर दिया पशु को बांध दिए ये तो करते हो ना जो रुई है अब उसको कुछ ना करो तो क्या फैला हुआ बिखरा हुआ रहेगा सामान्य रूप में रहेगा या नहीं अब उस रुई को कॉटन को आपने क्या बनाया धागा बनाया पहले उन धागों को मिलाकर रस्सी बनाए रस्सी किस काम में आई गले में बांधने के काम आई या नहीं उसी प्रकार से ये वाणी तो चुपचाप बैठी हुई थी तंती थी धागे थे अब इन तंतियों को इस्तेमाल करके नाम अपने मुंह से निकाल दिया घट बोल दिया चौपट हो गया सारा काम और नतीजा क्या निकला रस्सी से हम अपने गले बांध लिए घट है मैं घट को जानता हूँ इस गले बांध दिया वाचा तंतिया नाम भी धाम भी नाम ही दाम है वाचा का वाक्य है तंती है इसका पूर्वार्थ पढ़िएगा तो बहुत ही सुंदर नीचे मंत्र दिया पूर्वार्थ को पूर्वार्ध का टुकड़ा नीचे दिया है देखिए टिप्पण में है टिप्पण में देखिए तदा तीन नंबर टिप्पण है तीन नंबर में लिखा अव्यवहित तस्वाप्तंते नामानि दामानि इति ये पूर्वार्ध वह यह जो अव्यवहित रूपेण साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म रूप स्वरूप आत्मा है उस आत्म संबंधी जो वाक वाणी है धागों के समान तंती और उस धागों से बना हुआ ये नामानी एवं धामानी नाम ही रस्सी हो गया और ये वाणी रूपी तंतियों से निष्पन्न नाम रूपी रस्सी से क्या हुआ तो उसका उत्तरार्ध मूल में दिया तद शीरम वाचा करम वह यह जो तदिदम मन विकार जातम घटपटादि विषयम अस्य ब्रह्मण इस ब्रह्म का इस आत्मा का क्या कर दिया अपनी वाणी रूपी तंतियों से वाचा तंतिया वाचा में सामान्य रूपया तंतिया टीका नानगिरी में देख लीजिए वाचा में सामान्य रूपया तंतिया प्रसारित रज्जु तुल्य प्रसारित रज्जु मैंने अभी निष्पन्न रज्जु नहीं है फैला हुआ है धारा और उससे जो अपने शीतम बद्या प्रसार रज तुल्य क्या हुआ सितम मने बद्धम व्याप्तम यदि संबंध तो उसके तरफ अपने आप को बांध लिए हैं इस भ्रम का बंधन हो गया शब्द सामान्य न अर्थ सामान्य से व्याप्त अपनी कहने का तात्पर्य क्या है शब्द सामान्य के द्वारा आप अर्थ सामान्य को व्याप्त कर ले रहे हैं तादृश व्याप्ति से हम अपने आप को बंधन में डाल इन पूर्व पक्षी कर सकता है ठीक है जी शब्द सामान्य से भले अर्थ संबंध को व्याप्त भले कर रहा हूँ लेकिन अर्थ विशेष शब्द विशेष का संबंध तो नहीं बना उसको लेकर बंधन तो नहीं होगा और हम लोग सारी दुनिया में क्या कर रहे हैं अर्थ विशेष के साथ शब्द विशेष को लेकर संबंध जोड़ रहे हैं इसलिए हम तो बंधन में है नहीं तब कहते नहीं नहीं सर्वम हिदम नामानी कर दूसरे प्रमाण से कहते भाई जो कुछ भी शब्द विशेष में प्रयोग करोगे उससे बुद्धिमान अर्थ विशेष कम भी वही कहूंगा शब्द विशेष पंक्ति अर्थ विशेष दाम रज्जु उसके द्वारा वह यह जो पूर्वोक्त अव्यवहित साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है उसको बंधन में डाल रहे हो इसलिए अगला मंत्र दिया सर्वम ही इदम नामानी इसे यद सामान्य तद विशेष तुल्य इसलिए जो सामान्य में हमने व्याप्ति ग्रहण किया है और विशिष्ट में व्याप्ति तो अवश्य ही लागू होगी यत्र यत्र धूमहा तरत्र ये सामान्य आपने ग्रहण किया तो यत्र पर्वतीय धूमहा तत्र अवश्य में पर्वत वन्य रस्तिये न संशय यथा तथा अत्रापि यदा सामान्य वाचा सामान्य दामना सर्व सितम भवती तथा विशेषेण तंत्या विशेषेण ज्ञात दामना सर्वमय प्रतिबद्ध इसलिए कहते कि देखो ये न्याय लागू हो गए यहाँ पर क्या यद सामान्य तद विशेष ये नियम यहाँ लागू हो गया शब्द विशेष दामत्तान ये विशेष रूपम अपनी इदम जातम व्याप्तम वक्तव्यम न्याय से तुल्यता देखो न्याय से तुल्यता ऐसे आनंदी कह रहे हैं घटार शब्द विशेष टिप्पणकार घटारी शब्द विशेष स्वार्थ व्याप्ता शब्द तक सामान्य शब्द वक्त इति अनुमानम यह अनुमान बन जाएगा घटारी शब्द विशेष क्या है वे भी अपने अपने अर्थ को व्याप्त कर रहे हैं शब्द होने से जैसे सामान्य शब्द के समान ऐसे अनुमान के द्वारा न्याय मन अनुमान के द्वारा सिद्ध हो सकता है व्याप्ति बन सकती है इत्यादि श्रुति श्रुतिभ्या भाष्यकार इत्यादि श्रुति श्रुतिभ्या ओमकार आत्म प्रतिपत्ति का उपाय होने से अतः हमने जिसने हमने साबित कराया है कि अभिधान और अभिन्न है समस्त अभिधेय अभिधान से अभिन्न है और समस्त अभिधान ओम से भिन्न है और ओम ब्रह्म से भिन्न है इसलिए ओंकार के स्व निर्णय करने से ओंकार की प्रतिपत्ति से आत्मा की प्रतिपत्ति होती है यह जो हम निष्कर्ष निकाल आए हैं उसी के उसी बात का समर्थन और पोषण और जिस आधार पर मैं कह रहा हूँ वह श्रुति कहती क्या है वो ओम तदक्षर मृगम सर्व तस्व्याख्यानम भूतम भवत भविष्य सर्वोकार यन्यत्रिकालातीतम तदप्योकार आगम प्रदान प्रकरण यहाँ पर पहले आगमों को लाएंगे उसके बाद इन आगमों पर विचार करने वाले भी कुछ कारिकाएं आएंगी जगह जगह बीच बीच में ओम इत्यक्षर इदम सर्वम कहते हैं कि इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम भवरी जगत तत्सर्व ओ इत्येता कहते ही है जो कुछ भी जगत में आप देख रहे हो ना वह समस्त जगत ओम या एकमात्र अक्षर ही है उसका नाम भी अक्षर है न अक्षर दीदी अक्षर जो क्षवे कभी नाश को प्राप्त नहीं होता ऐसा क्योंकि जो ब्रह्म से अभिन्न को नाश कैसे प्राप्त करेगा जब ब्रह्म से अभिन्न है वो नाश को प्राप्त नहीं कर सकता तो इसलिए वह नित्य है क्योंकि ब्रह्म ही है वो अतएव तस्य को व्याख्यान उस ओंकार का हम व्याख्यान करने जा रहे हैं क्या व्याख्यान करोगे जी कहते भाई ये भूत भी है क्या ये भूत है और ये भवद है और ये भविष्य भी है भूत से भूत नहीं लेना है काल को लेकर के मैंने वर्तमान वस्तु भी वही है अतीत वस्तु भी वही है और भविष्य वस्तु भी वही है मैंने भूत वर्तमान भविष्य इन तीनों कालों में विद्यमान काल से परिच्छिन्न जो कुछ भी है मैंने व्याकृत जगत जो कुछ भी है ओम ही है अतव सर्वम ओंकार अतः यह सब कुछ ओंकार स्वरूप ही है ठीक है जो काल से परिच्छिन्न है व्याकृत तो ओम है अव्याकृत तो अलग रह गया कहते नहीं नहीं यन्य त्रिकारादीदम जो काल से अपरिच्छिन्न है ऐसा जो अव्याकृत शब्द जो कहा करते हैं तो तदपि ओंकार व्याकृत अव्याकृत जो कार्य त्रिकारावच्छिन्न और अपरिच्छिन्न जो जगत है कार्य कारण भाव से व्याप्त है यह समस्त कार्य कारण भाव की कल्पना का अधिष्ठान स्वरूप है ओम ओम इतम इदम सर्वम भाष्यकार विचार करते हुए कहते देखो इदम वर्त जातम अभिधेय भूतम वह यह जो इदम शब्द वाच्य क्या है अर्थ समूह है गड़बड़ादि विषय क्या है वो अभिधेय भूतम वो अभिधेय आत्मा और वो अभिधेय आत्मा जो है वो तस्य अभिधान अव्यतिरिका वे समस्त अभिधेयूत घटपट आदि क्या है अपने जो घटपट इतने शब्दों से अभिन्न है अभिधान से भिन्न उपलब्ध हो नहीं होता ये आपको कहा जाए आप घट शब्द को लाना घट वस्तु को नहीं लाना तो आप नहीं ला सकेंगे आपको कहा जाए आप घट को ले आओ घट शब्द को नहीं लाना तो भी आप नहीं ला आप कहोगे महाराज हम मोहनी बाबा बनकर उठा के लाएंगे तो लाएंगे तो आपसे पूछूंगा ना क्या रहा है तुमने क्या कहोगे आप मिट्टी लाए बोलोगे ऐसे तो कहोगे कहोगे ना भाई घट लाया हूँ कोई शब्द आगे नहीं आया तो आज भले ही कुछ भी आप यहाँ नाटक कर लें लेकिन वस्तु को छोड़कर शब्द नहीं हो सकता शब्द को छोड़कर वस्तु नहीं हो सकता व्यवहार में ऐसा होता ही है सकर वस्तु उनके साथ ऐसा ही इसलिए कहते हैं कि देखिए जो कुछ भी अभिधेभूत अर्थ जाते इदम शब्द वाच्य जो तस्म शब्द वाच्य से अभिधेभूत अर्थ जात अभिधान अव्यतिरिका अभिधान से अभिन्न नहीं है और वो जो अभिधान है अभिधान सिच ओंकार अव्यतिरिका ओंकार एवं सर्वम और जो अभिधान है नाम है समस्त नाम समस्त शब्द ओंकार से अभिन्न होने के कारण से ओंकार ही यह समस्त जगत है परंच ब्रह्म अभिधान अभिधेय उपाय पूर्वक गम्य थे ओंकार क्योंकि जो परम ब्रह्म परमात्मा विशुद्ध स्वरूप है वह अभिधान अभिधेय के उपाय पूर्वक ही जाना जा सकता है और कोई रास्ता ही नहीं उसको जानने का इसलिए अनेक कठिन साधनों का वर्णन करने के बाद में योगी राज पतंजलि क्या कहते हैं भाई ये सब लफड़ा है बहुत इनमें सबसे सरल तरीका है क्या उस ईश्वर पर निधान आत्मा अरे महाराज ईश्वर कहाँ है कैसे पकड़ो उसको अरे भाई उसका वाचक पकड़ो तसे वाचक प्रणव अरे कैसे पकड़ूंगा प्रणव को तत्व भावना उसको चेक करो उसके अर्थ की भावना करो स्मरण करो चिंतन करो मनन करो निध्यासन करो वो कैसे होगा बस वही तो बता रहे हैं ओम का ओम इत्य दीक्षा व्याख्यान तत्दम उसी का व्याख्यान किया जा रहा है ताकि आप इसको ग्रहण करके समय प्रकार से श्रवण कर लें फिर मरण और निध्यासन होगी सबसे सरल तरीका है ओम के शरण में जाओ ओम ही उद्धार कर देगा ओम के शरण में कैसे जाए वही तरीका बताया जा रहा है परंच ब्रह्म क्योंकि वह जो परम ब्रह्म है जिसको पकड़ने के वो अपने स्वरूप ही है भूले हुए है ना समस्या है भूले हुए को लाना वापस मुश्किल हो जाता है जिस व्यक्ति को रास्ता मालूम नहीं है उसको रास्ता बताना आसान है और जो दिमाग फिर गया जो घर का भागा है उसको घर के रास्ता बता तो भी नहीं जाएगा क्योंकि तो दिमाग फिरा हुआ है ना वो वो घर से नाराज है और जो घर के रास्ता बताओ तो जाएगा क्या घर नहीं जाएगा और जो अनजान है किसी का घर ढूंढ रहा है अब उसको रास्ता बता दो भाई अमुक रास्ते अमुक घर चले जाना वो चला जाए लेकिन जो जान कर छोड़ा हुआ है उसको वापस पहुंचाना बहुत कठिन वो बदनामी झेलनी पड़ती है वापस पहुंचना व्यवहार में देखने का और यही काम गुरु लोग करने की ठेका ले रखते हैं तुम जहाँ से भूल के आए हो छोड़ के जिस घर को उस घर जो रोता रहे हैं तुम रोते हो और घर उल्टा गुरु को बदनाम कर दो यही हो रहा है हमने अपना घर छोड़ा है अपना स्वरूप को छोड़ दिया है अपने स्वरूप को छोड़ करके जीव भाव में घुस गए हैं और संसार में जंगल में भी ये सोच करके हम जाएंगे जंगल तपस्या करेंगे हिमालय में ऐसे तो घर छोड़ के आती है नहीं यहाँ पर भी यही तो सोच के आते हैं हम घर घर छोड़ देंगे हम जाएंगे हिमालय में तपस्या करेंगे लंबा छोड़ा नहीं वैसे हमने यहाँ भी सोचा अपना घर जो स्वरूप तो छोड़ा और जीव भाव में आकर के जंगल में घुस गया संसार अभी जंगल में और भूल ही गया हम क्यों आए थे अब भूल गया आप इसको समझाओ तुमको वापस वहीं जाना है इसलिए तुम आए तो संसार अभी जंगल में इसलिए तुम तो अमुक आनंद हो गए हो अब अगले आदमी की ओर जाओ निर्विशेष की ओर यानी तो हमको गुरु जी ने नाम दिया जब हमने पूछा महाराज ये तो गड़बड़ नाम है क्यों कहती ये तो स्वरूप तो हुआ नहीं केवल नाम क्या रखना चाहिए केवल आनंदम का निधवा खत्म थी का आनंद अब आपने घुसा दिया दो और विशेष क्या शांति और धर्म ये तो खिचड़ी हो गया हम निर्विशेष की ओर जाने चले और आप सविशेष में घुसा दिए फिर लोग हमको ये नाम से पुकारा करेंगे फिर सविशेष में रह जाऊंगा तो निर्विशेष क्या नाम देना चाहिए था नाम वो हो जिससे कि हम निर्विशेष में पहुंच जाए और हमारे रख दिया बेकार है और आनंद के पूछ बना देना राम को नहीं कृष्णानंद कर दे कृष्ण को पूछ बना दे शिवानंद बना शिव को पूछ बना दिया है अब वो विशेषों के साथ ही ढूंढते थे आनंद को अरे केवल आनंद रहने दो ना क्यों बुझा रहे विशेष को बस यही समझाने के लिए विशेष में जोड़ा गया भाई तुम इस विशेष निर्विशेष में जाओ तुम्हारा नाम शुरू में जो भी है अंत में क्या है आनंद है ना बस उसी की ओर तुम्हारा लक्ष्य होना है उसी को पकड़ो उसको कैसे पकड़ोगे कभी इसलिए तो सरस्वती कहा है साथ में है बस विद्या को पकड़ो ब्रह्म विद्या को पकड़ो पहले मन को शांत करो यदि धर्म का पालन करो आनंद स्वरूप आनंद ब्रह्म विद्या का प्राप्त करो इसलिए तुम्हारा नाम शांति धर्म आनंद सरस्वती कर दिया ऐसे गुरु ने जब कहा तो तेरे आंख की खुली गए ठीक है फिर अच्छा ये याद रहेगा हमको हमेशा कि हमको ऐसे ऐसे चलना है मन को शांत करना है मन की वासनाओं को मारनी है मन की कामनाओं को मारना है कथा प्रवचन भी छोड़ना है भंडारा भी छोड़ना है ये रहेगा ना दिमाग में फिर यति धर्म का पालन करो स्वाध्याय करो कहेगा ना तद्धि तपा तद्धि तपा स्वाध्याय ब्रह्मचार आप ब्रह्मजिता तैत्र में आएगा इससे बढ़कर कोई तप ही नहीं है वहां नंगा गंगोत्री में बैठोगे तो बहन से वहां घूमता ऐसे वो तब नहीं है स्वाध्याय होना सबसे कठिन तब है इसे मन नहीं लगता लोगों का कि क्या बबाल है दिन रात लगे रहो दो चार साल में थक जाते महाराज कब पूरा होगा यही पूछ रखते हैं महाराज की तरह जल्दी पूरा करोगे थोड़ा और स्पीड बढ़ा दो कहते कई लोग तो। और कुछ तो कहे महाराज यही ज्यादा स्पीड हो रहा क्या करें हम हम ले जाना चाह रहे वापस घर नहीं पहुंचना चाहते तो कहते नहीं नहीं हम संसार के जंगल में ही रहना चाहते हैं तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर क्योंकि वो जो परम ब्रह्म है उसका अभिधान और अभिधेय पूर्वक ही उसका भी बोध हो सकता है क्योंकि ओंकार ओम तो का अभिधान कौन है वो भी ओम है और अभिधेय कौन है इदम सर्वम इदम है अभिनय ओंकार रूपी अभिधान से भिन्न है और ओंकार रूपी अभिधान स्वरूप ही अतः समस्त को इनके नामों से भिन्न कर दो जो बाह्य वस्तु रूप प्रतीत है इनको क्या करना इनके नामों से भिन्न कर देना ये सीमा में बिठाओ पहले अच्छी तरह से घट नामक जो वस्तु जो मैं व्यवहार कर रहा हूँ वह वस्तु उसके नाम से अलग नहीं है घ ये अक्षर विन्यास से अतिरिक्त वास्तव में घट नाम का कोई बाह्य पदार्थ नहीं है सब कुछ अपने खोपड़ी में ही है बाहर के समान दिखता है बहिरिव उद्भूतम दशनामृत स्त्रोत्र में विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि माया व उद्भूतम ये मुख्य चीज है सब कुछ है कहा अपने भीतर और देखता रहा हूं मेरे बाहर है इसलिए कईयों को ये बात पचती नहीं है स्वांत परिकल्पित परिदृश्यमान जगत कह दो तो उनको पचता नहीं बड़ा कठिनाई होती ये कैसा होगा महाराज आपका भीतर में रहने वाला वस्तु तो हम आपके बाहर कैसे हो गए यदि हम सारा जगत आपके अंतकरण के अंदर है तो हम बाहर कैसे आ गए तो भाषिकार ने जवाब वहां पर दे दिया है माया बहिर्व बाहर आई भी नहीं है यही सोच तुम्हारा गलत है कि मैं बाहर हूँ माया के वजह से बाहर में आई हुए के समान तुमको आभास हो रहा है हो अपने अंतकरण में ही समस्त जगत सहित अपने अंतकरण से बाहर कुछ भी लगता है बाहर है व्यवहार भी बाहर हो रहा है इन अंदर बाहर ये व्यवस्था केवल इस शरीर को लेकर के आपने कर लिया है इस शरीर को लेकर भी क्यों हुआ उसी का जवाब है माया अविद्या अविद्या के कारण से ही हमने जो है अपने शरीर में अभिमान को घुसा दिया जैसे ही दो भाग हो गया एक अंदर एक बाहर नहीं तो केवल स्वरूप था वो स्वरूप में परिकल्पना थी इसी प्रकार स्वप्न में भी आप करते हो केवल जगत को बना लो फिर आपको स्पष्ट दिखेगा कि मेरे अंदर सारा जगत है इन समस्या क्या होती है आप स्वप्न में सबसे पहले अपने आप को बना लेते हो वहां एक शरीर बना लेते हो और शरीर में घुस जाते हो और फिर अन्य जगत को बना करके वहां भी दूसरे नया जगत खड़ा कर दिया वहां भी बाहर का व्यवहार अंदर बाहर व्यवहार करने लग यदि कभी हो सके स्वप्न में ऐसी कल्पना करने की चेष्टा कर